नमस्कार मित्रों मेरा संक्षिप्त परिचय देता हूँ नाम है राहुल मेहता और राइट टू रिकॉल ग्रुप एक ऐसे ही हमारा वॉलेंटियरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा हम राइट टू रिकॉल के कानूनों का प्रचार करते हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आती है वो बात एकदम झूठ है जो बात प्रणब मुखर्जी सुब्रमण्यम स्वामी अडवाणी बहुत ढोल नकाड़े बजा बजा के कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल आया तो इंस्टेबिलिटी आए तो बिल्कुल झूठ बात है क्योंकि राइट टू रिकॉल आता है आदमी के सर पर लटकती तलवार आती है तो वो इनडिसिप्लिन उसकी कम हो जाती है तो राइट टू रिकॉल की जरूरत ही नहीं पड़ती और दूसरा जो कहा जाता है कि राइट टू रिकॉल का खर्चा बहुत आएगा वो भी झूठ बात है मैंने प्रोसीजर प्रपोज किया राइट टू रिकॉल पीएम की पीएम की जिसमें पूरे 75 करोड़ देश के नागरिक इन्वॉल्व होंगे तो उसका खर्चा आता है 250 करोड़ रुपया यानी पर सिटीजन मुश्किल से तीन चार रुपया और वो भी एसएमएस एम का जो सिस्टम आएगा उसके बाद वो खर्चा कम होकर पाँच करोड़ हो जाता है तो हम ये काम करते हैं राइट टू रिकॉल के कानून का प्रचार आज का ये 10 मिनट का वीडियो है वो है ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया पे और एक दूसरा वीडियो है 10 मिनट 10 12 मिनट का वो है ब्लैक मनी इनसाइड इंडिया के ऊपर और एक एक घंटे का वीडियो है वो है ब्लैक मनी आउटसाइड और इंडिया आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया दोनों के ऊपर तो ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया कितना है कैसे वापस लाया जाए इसको मैं संक्षिप्त में वर्णन करूंगा अब ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या हुआ ब्लैक मनी का अर्थ क्या हुआ कि जो पैसा जो कि मैंने डिस्क्लोज नहीं किया जो कि मेरी प्रॉपर्टी है मैंने डिस्क्लोज नहीं किया और मैंने उसकी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि इंडिया में वेल्थ डिस्क्लोजर का तो कोई कानून है ही नहीं अभी बनाना चाहिए वो मेरा एक प्रपोजल है कि वेल्थ डिस्क्लोजर का कानून बनाना चाहिए पर सिर्फ इनकम डिस्क्लोजर का कानून है जैसे कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं तो मुझे इतना ही बताना पड़ता है कि इतने साल मेरी इनकम कितनी हुई प्रॉपर्टी स्टेटमेंट हर एक आदमी को देना जरूरी नहीं होता अब लेकिन उसके आधार पे भी आ सकता है कि मान लो मेरे पास सौ करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैं मैंने पिछले साल खरीदी और पिछले चार साल की मेरी इनकम है पचास लाख पचास लाख पचास लाख तो प्रूव हो गया कि भाई ये सौ करोड़ की प्रॉपर्टी है वो ब्लैक मनी हो गया इसको बोलते हैं wealth more than proven income कि wealth more than proven income यानी कि जितनी दौलत है उस आदमी के पास वो उसकी जो पिछले साल की आय है सालों की आय है उससे कई ज्यादा है और वो ब्लैक मनी प्रूव करने के लिए एक साधन बन जाता है तो ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया का अर्थ क्या हुआ कि उस आदमी की भारत के बाहर इनकम हुई थी जो कि उसने दिखाई नहीं यदि वो लीगल इनकम हुई थी और दिखाई थी तो वो व्हाइट मनी हुआ जैसे इतने बहुत सारे एनआरआई है उनकी फॉरेन में इनकम होती है प्रॉपर्टी होती है तो वो ब्लैक नहीं है वो व्हाइट हुआ ब्लैक क्या हुआ कि उसने वो इनकम और प्रॉपर्टी दिखाई नहीं कितना ब्लैक मनी है या ब्लैक प्रॉपर्टी है हिंदुस्तानियों की हिंदुस्तान के बाहर तो उसका तो कोई ऑफिशियल एस्टिमेट तो मिलने भी नहीं वाला अनऑफिशियल एस्टिमेट निकालना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग इतने देशों में बिखरी पड़ी है ऐसे 35 देश है जहाँ पे आप इस तरह के बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो स्विट्जरलैंड मॉरिशस और कितने बैंक में कितने अकाउंट है कितना पैसा है उसमें से फिर हिंदुस्तानियों का पैसा कितना है वो अंदाज लगाना भी बहुत मुश्किल है जो अलग अलग अंदाज चल रहे हैं कोई कहता है साठ लाख करोड़ कोई कहता है मतलब तीन सौ लाख करोड़ चार सौ लाख करोड़ तो इसमें हम ज़्यादा बता नहीं सकते कि कितने क्या कितना ब्लैक मनी है इंडिया के बाहर आपको जो अंदाज ठीक लगता हो वो आप ले लीजिए अब सवाल आता है कि वो ब्लैक मनी हिंदुस्तान में वापस कैसे लाया जाए कौन से कानून बना के तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है ड्राफ्ट कि भाई आप कौन सा ड्राफ्ट प्रपोज करते हो कि जिससे ब्लैक मनी इंडिया में वापस आएगा gazette notification draft gazette notification का मतलब क्या होता है ये एक गैजेट नोटिफिकेशन का एग्जाम्पल है जस्ट एग्जाम्पल है ये गैजेट नोटिफिकेशन है गुजरात सरकार ने निकाला है गैजेट नोटिफिकेशन यानी हर एक राज्य सरकार का मुख्यमंत्री और हर एक और भारत के प्रधानमंत्री हर एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री हर पंद्रह दिन बाद महीने में एक आध बार इस तरह का बुकलेट निकालते हैं 100-200 पेज का भी हो सकता है पांच पेज का भी हो सकता है और वो इंस्ट्रक्शन टू सेक्रेटरी कलेक्टर होता है इसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि सेक्रेटरी को क्या करना है कलेक्टर को क्या करना है वो और कलेक्टर और सेक्रेटरी इसके आधार पर दूसरे इंस्ट्रक्शन और करते हैं जैसे कि मिनिस्टर में एक इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी को भी तो सेक्रेटरी देखेगा कि इसका मुझे अमल करने के लिए कलेक्टर को ये बोलना पड़ेगा इसको ये बोलना पड़ेगा तो वो भी इंस्ट्रक्शन निकाल के उसको गैजेट में डालता है पूरी जो सरकार है वो इस पर चलती है मान लो मिनिस्टर ने बोल दिया कि कैरोसिन बारह लीटर दो लेकिन गैजेट में दस लीटर लिखा है तो कलेक्टर दस लीटर लिखेगा यानी हमें यदि ब्लैक मनी वापस लाना है तो सबसे पहले गैजेट में कुछ लिखवाना पड़ेगा कि जिससे पूरी प्रक्रिया शुरू हो तो गैजेट में ऐसी क्या चीज लिखवाए मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से ड्राफ्ट दिया है मेरी किताब में rahulmehta.com slash 301.htm उसमें ब्लैक मनी के ऊपर चैप्टर है चैप्टर 28 uh, और उसमें मैंने दिया है कि कैसे किस कानून के द्वारा ब्लैक मनी वापस आ सकता है उसका मैं यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा तो सबसे पहले हमें right to recall finance minister का कानून लाना पड़ेगा क्योंकि पूरा जो प्रक्रिया है उसका मुख्य कर्ता हर्ता संचालक है वो प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर होंगे यदि वो दोनों करप्ट है तो जितना ब्लैक मनी पहले तो ब्लैक मनी आएगा नहीं और आएगा तो जितना आएगा उससे डबल वापस चला जाएगा तो right to recall prime minister और right to recall finance minister ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरा प्रपोजल है कि गैजेट में राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट आना चाहिए राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट मैंने ये 301.htm के चैप्टर 6.6 चैप्टर 6.6 में पूरा ड्राफ्ट किया है कि किस तरह से 200-250 करोड़ के मामूली खर्चा मामूली यानी पूरे देश के लिए आप देखो तो 200-250 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है पूरी जीडीपी का 0.1 परसेंट से भी कम हुआ कैसे नागरिक महीने दो महीने में पीएम को बदल सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को बदल सकते हैं उसके बाद आ, है कि कानून पास गैजेट में लिखना पड़ेगा कि जो भी हिंदुस्तानी उसका एक देशों की सूची बनानी पड़ेगी कुछ कुछ देश है जहां पे पब्लिक डिस्क्लोजर का रूल है जैसे अमेरिका में कोई भी बुद्धिमान आदमी अपनी ब्लैक मनी अमेरिका में नहीं रखेगा क्योंकि यदि भारत सरकार अमेरिका की सरकार को लेटर लिखती है कि भाई आदमी एक्स वाई की बताओ कि कितनी दौलत उसकी अमेरिका में है तो दूसरे मिनट अमेरिका बता देगा कि उसके बैंक में इतना पैसा है जमीन इतनी है वगैरह वगैरह तो कुछ पैंतीस देश है जहां पे जानबूझ के उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते जैसे कि स्विट्जरलैंड के बैंक यदि भारत सरकार को इंफॉर्मेशन देती है कि इस आदमी का एक करोड़ डॉलर हमारे बैंक में है तो जिस बैंक बैंक एम्प्लॉय ने ये जानकारी दी उसको सात साल की जेल हो सकती है ऐसा कानून स्विट्जरलैंड ने बनाया है ताकि लोग उनके और ब्लैक मनी रखें तो इसमें हमें पहले कानून पास करना पड़ेगा कि कोई भी आदमी की यदि प्रॉपर्टी इन 35 देश में से किसी देश में है तो उसे एक महीने के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा और यदि डिस्क्लोज नहीं किया तो उसे तीन साल की जेल की सजा हो जाएगी यानी कि मॉरिशस उस कंट्री में सबसे पहला नाम आएगा स्विट्जरलैंड फिर आएगा मॉरिशस फिर लाचिस्तान तो कानून में ड्राफ्ट में ये आएगा कि ये 35 देश है यदि 35 देशों में आपका एक रुपया भी है तो आप डिस्क्लोज कर दो लिमिट रख दो उसमें शुरुआत में मान लो कि पचास लाख का एग्जामेशन या एक करोड़ का एग्जामेशन या एक लाख का एग्जामेशन पर इससे ज्यादा आपके पास घर है या बैंक बैलेंस है या सोना है या कोई भी प्रॉपर्टी यदि इन पैंतीस देशों में है तो तीन महीने के अंदर डिस्क्लोज कर दो वरना वो प्रॉपर्टी तो जब्त होगी तीन साल की जेल होगी तो कुछ लोग तो ये कानून की परवाह नहीं करेंगे तो कैसे उनको डील किया जाए वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आता हूं फिर भारत सरकार को यूएन में एक दरखास्त रखनी चाहिए तो उसके लिए right to recall prime minister जरूरी है क्योंकि ऐसा होगा तभी वो प्राइम मिनिस्टर ऐसी दरखास्त रखेगा कि इन 35 देशों से यूएन से निकाला जाए और उनके सामने सैंक्शन रखे जाए कब तक जब तक कि वो अपने बैंकिंग के कानून सुधारते नहीं है बैंकिंग के कानून सुधारते नहीं है जैसे कि अमेरिका ने जो कानून बनाया भारत ने कानून बनाया दुनिया के अधिकतर सिविलाइज कंट्रियों ने जो कानून बनाया वो इस तरह के कि मेरा यदि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और मेरा यदि अमेरिका में अकाउंट है और भारत सरकार अमेरिका की सरकार को पूछती है कि भाई राहुल मेहता के अकाउंट की इंफॉर्मेशन दो तो वो उसी तरह से उसको ट्रीट करेंगे जैसे अमेरिका की गवर्नमेंट ने ये क्वेरी निकाली ट्रीटमेंट एट पार बोलते हैं यानी कि पूरा अमेरिका का डिपार्टमेंट है वो उसी तरह से उसको ट्रीट करेगा जैसे अमेरिका के डिपार्टमेंट ने ये क्वेरी निकाली हो और हफ्ते दो हफ्ते जितना टाइम उनको लगता है उतना ही टाइम उनको लगेगा और उसके उतने टाइम में वो भारत सरकार को इन्फॉर्मेशन दे देगी और इसी तरह से यदि अफ्रीका के किसी नागरिक का भारत में पैसा है तो भारत की सरकार उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी और ये 35 देशों ने जिन्होंने उल्टा कानून बनाया इन 35 देशों पर सैंक्शन डाले जाए ऐसी दरखास्त भारत सरकार को यूएन में रखनी चाहिए अब यूएन में रखने से पास हो जाएगी ऐसा तो नहीं है उसके बाद दूसरी मुहिम शुरू होगी कि जितने भी देश है वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये ब्लैक मनी की समस्या को निपटाना चाहते हैं तो इस से आपको उन देशों में एक मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं कि उन देशों के नेताओं पे भी दबाव आए कि वो यूएन में इसको समर्थन करे जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि पाकिस्तान है वो हमारा दुश्मन देश है वहां के लोग हमारे दुश्मन है वहां की सरकार हमारी दुश्मन है वहां की सेना भी हमारी दुश्मन है लेकिन यदि भारत सरकार इस तरह का कोई रेजोल्यूशन रखती है यूएन में तो पाकिस्तान के लोग भी वहां के जो एक्टिविस्ट है वो भी सोचेंगे कि भाई भले ही भारत हमारा दुश्मन हो हम भारत के दुश्मन हो लेकिन ये दरखास्त हमारे फायदे में हमें सपोर्ट करना चाहिए इसी तरह से बांग्लादेश को भी ले लो वो भी हमारा दुश्मन देश है चीन ले लो चीन भी हमारा दुश्मन देश है तो ये देश के लोग भी सोचेंगे कि नहीं भारत सरकार की ये दरखास्त जो यूएन में उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे फायदे में तो थोड़ी लंबी मुहिम है मैं नहीं कहता कि 24 घंटे में ये रेजोल्यूशन यूएस में यूएन में पास हो जाएगा लेकिन आजकल ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फेसबुक और उसके द्वारा प्रचार करना नामुमकिन भी नहीं है भारत सरकार फेसबुक को बैन करने में लगी है उसके बजाय ऐसे दरखास्तों को फेसबुक पे प्रचार करे तो उसको ज्यादा सफलता मिलेगी ज्यादा प्रतिभाव मिलेगा तो उसके जरिए बाकी देशों के नागरिकों का सपोर्ट लेके यूएन में ये रेजोल्यूशन पास कराया जा सकता है तो ये जो देश है इनपे सैंक्शन होगा तो ये 24 घंटे में अपने कानून बदल देंगे स्विट्जरलैंड पे यदि सैंक्शन आ गया तो वो देश है वो हफ्ते में खत्म हो जाएगा उसका सारा खाना पानी राशन पाना सब बाहर से आता है वहां तो कुछ उगता नहीं है मॉरिशस है उस पर यदि सैंक्शन आ गया और टूरिस्ट बैन लग गया ह्यूमन ट्रैफिक पे बैन लग गया कि मॉरिशस का कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता बाहर का कोई आदमी मॉरिशस नहीं आ सकता तो वहां चीनी के सिवा कुछ उगता नहीं है वो देश महीने में खत्म हो जाएगा तो यूएन सैंक्शन आने के यू समझो कि हफ्ते भर में ये सारे देश अपने कानून बदल देंगे और डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेंगे तो डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन देना शुरू करें उसके बाद जितने बड़े लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाए आ, जैसे राजा हो या कलमड़ी हो या शरद पवार हो या आ, जितने भी एस पी अकाउंट वाले हैं राजमाता हो या देश का जमाई और प्रमोद महाजन जो स्वर्गीय प्रमोद महाजन जितने भी बड़े नाम हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है और एक बार उनकी इंफॉर्मेशन आए उसके बाद जेल की सजा और उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी और बाद में उनको डील दिया जा सकता है कि भाई इसमें तो आपको 15-20 साल की जेल हो जाएगी और नाम बताओ और सबूत दो दूसरों के खिलाफ तो हम तुमको 5-10, 20 परसेंट पच्चीस परसेंट डिस्काउंट दे देंगे सजा में यानी कि किसी को 15 साल की सजा हो रही है और यदि वो 10-15 नाम देता है और इन्फॉर्मेशन देता है सबूत देता है तो उसकी सजा पंद्रह साल से कम करके दस साल कर दो तो इस तरह से और नाम मिलेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे नाम आते जाएंगे दस पंद्रह आदमियों की प्रॉपर्टी जब्त होगी बाकी सब लोग अपना डिस्क्लोजर फाइल करना शुरू कर देंगे डिस्क्लोजर फाइल करते समय हमें देखना पड़ेगा कि उस आदमी की कितनी प्रॉपर्टी जब्त की जाए जैसे आज मैं अपना ब्लैक मनी डिस्क्लोज करता हूँ तो इनकम टैक्स के कुछ कानून है कि वो तीन परसेंट तीस परसेंट ले लेंगे साठ परसेंट ले लेंगे ज्यादा भी ले सकते हैं तो इसमें हमें दो तीन डिस्क्रिप्शन रखना पड़ेगा कि उस आदमी का का उसने सिर्फ टैक्स चोरी की है या टैक्स चोरी के साथ साथ और भी चोरी की है मैं फर्क समझाता हूँ कि कोई बिजनेसमैन है वो उद्योग करता है जो भी कारोबार करता है उसने पैसा कमाया तो पैसा उस कमाई उसकी लेजिटिमेट है और उसने टैक्स नहीं भरा तो उसका सिर्फ एक ही क्राइम हुआ कि उसने टैक्स नहीं भरा तो मैं कहूँगा उसका 35 परसेंट चालीस परसेंट पैसा सरकार ले ले और बाकी 60 परसेंट उसका ले ले लेकिन दूसरा केस है कि कोई अफसर है या जज है या नेता है और उसने दो पांच दस बीस पचास करोड़ की रिश्वत ली तो वो रिश्वत भी गैर कानूनी और टैक्स नहीं भरा वो भी गैर कानूनी यानी डबल क्राइम है उसमें तो ऐसे केस में हंड्रेड परसेंट पैसा लेने के साथ साथ उसको जेल करनी चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा कि उस आदमी का कितना पैसा जब्त हो वो नेचर ऑफ इनकम मतलब इनकम प्राप्त करने का तरीका उस पर डिपेंड करेगा और पूरी जो ड्राफ्ट मैंने प्रपोज किया उसमें पहला right to recall PM right to recall finance minister ताकि ये पूरी प्रोसेस शुरू हो यूएन में रेजोल्यूशन यूएन में रेजोल्यूशन पास कराने की प्रोसेस शुरू हो उसके लिए जो फेसबुक और दूसरे अखबारों में कैंपेनिंग करना पड़ेगा पूरी विश्व स्तर पर वो कैंपेनिंग शुरू हो और अंत में आता है जूरी ट्रायल देखो ये बहुत जरूरी है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो हम right to recall CTBT chairman ये पूरा जो काम है वो central board of direct taxation के अंदर में आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो central board of direct taxation के अंदर काम करता है इनकम टैक्स का जो चीफ कमिश्नर होता है वो सीधा उसको रिस्पॉन्सिबल होता है और इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है और दूसरा डिपार्टमेंट आता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर ये सारे जो अधिकारी उनपे राइट टू रिकॉल होना चाहिए ताकि प्रजा उनको बदल सके क्योंकि यदि उनपे लटकती तलवार नहीं होगी तो ये लोग ही हाँ, दूसरे दिन जाके स्विस बैंक में अकाउंट खोल देंगे देखो एक साफ बात मैं बोलता हूँ कि गैजेट में कितने भी पढ़ने भर दो लेकिन यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो जितने भी पावर आप अफसर को दिए हैं वो सारे अफसर दूसरे दिन जाके मॉरिशस में अकाउंट खोल देंगे और ये बात मैं तो पिछले 12 साल से कह रहा हूँ लेकिन सचिंद्रनाथ सान्याल महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1925 में कही थी महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम आपके जो पेड हिस्टोरियन है उन्होंने आपको बताया नहीं होगा आपके जो इतिहास के पुस्तक लिखने वाले हैं वो कभी उनका नाम नहीं बताएंगे महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल महात्मा भगत सिंह के गुरु थे महात्मा भगत सिंह महात्मा चंद्रशेखर इनके गुरु थे आ, और वो सिर्फ गुरु नहीं थे वो कार्यकर्ता भी थे उन्होंने काकोरी ट्रेन में अंग्रेजों का खजाना लूटा था उनको दो बार काला पानी की सजा हुई ये एकमात्र क्रांतिकारी थे जिनको दो बार काला पानी की सजा हुई तो महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1925 में ये कहा था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए और यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी और चुनाव एक मजाक बन के रह जाएगा ये बात उन्होंने 1925 में कही थी तो यदि ब्लैक मनी लाना है तो भी राइट टू रिकॉल पीएम तो होना ही चाहिए वरना पीएम ही मॉरिशस बैंक में अकाउंट खुलवा देगा या उसके आदमी खोल देगा अब एंड में आता है जूरी ट्रायल क्योंकि यदि ये केस जज के पास गया कि भाई इस आदमी के पास इतना ब्लैक मनी है या नहीं है तो तो 15 साल तक जजमेंट नहीं आएगा मैं आपको एग्जांपल के बोलता हूँ जयललिता जयललिता के पास कम से कम हजार दो हजार करोड़ का ब्लैक मनी होगा और उसके सामने केस फाइल किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरे को नाइनटीन के आसपास asset beyond means of income का केस किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने तो जब जयललिता ने वाजपेयी का सपोर्ट छीन लिया तो सुब्रमण्यम स्वामी ने तो केस ढीला छोड़ दिया क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का एक ही इंटरेस्ट था कि वाजपेयी सरकार को गिरानी थी वाजपेयी सरकार ने पोखरण टू का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया वो अमरीका को अच्छा नहीं लगा इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने तय किया कि भाई वाजपेयी की सरकार को गिराना है तो वो जयललिता के खिलाफ जो केस है asset beyond means of income का वो पिछले 12-15 साल से चल रहा है अभी तक जज साहब ने जजमेंट नहीं दिया जो भी जजमेंट देंगे उसके बाद हाईकोर्ट में जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा यानी जयललिता की मृत्यु तक ये जजमेंट नहीं आएगा तो वो कोई बकवास है इसलिए ज्यूरी सिस्टम होना चाहिए ऐसे केस में और मैंने ज्यूरी सिस्टम इसी तरह से प्रपोज किए कि उस आदमी के पास प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा उतनी ज्यूरी की संख्या बड़ी होगी और एंड में narco test in public narco test in public जिनका ऐसे लोगों का नहीं जिसके पास 10-20 करोड़ की ब्लैक इनकम है उसके लिए जूरी पर्याप्त है पर जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी होने की संभावना लगती है उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट है जैसे कि राजा है कलमड़ी है प्रमोद महाजन तो स्वर्गीय हो गए वरना उनका भी नाम मैं देता कि उनका भी पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए फिर शरद पवार है कांग्रेस के इतने कोई भी सारी पार्टियों के तो शंका होगी भाई इस आदमी के पास सौ करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी विदेशों में है तो उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए जब पब्लिक में नार्को टेस्ट आएगा तो और नाम उछलेंगे कि उसने किसको कितना पैसा दिया कितने लोगों से कितना पैसा लिया और आ, उससे रिकवरी की प्रोसेस स्पीडअप होगी तो मैं समराइज करता हूं कि विदेशों में कितना ब्लैक मनी अंदाज लगाना मुश्किल है लेकिन वो अंदाज लगाए बिना हमें ये काम शुरू कर देना चाहिए कि कैसे गैजेट नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट से वो पैसा वापस आए और यदि किसी को गैजेट नोटिफिक कोई बोलता है कि गैजेट नोटिफिकेशन अगले जन्म में देंगे तो मैं कहूंगा उसके बाद भी आप अगले जन्म में सुनना उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई महीने दो महीने में गैजेट नोटिफिकेशन दे वरना तो वो टाइम पास वाली बात होगी और गैजेट नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद देखो कि भाई उसके गैजेट रुपये से दस रुपये भी आएंगे या नहीं और दस रुपये आ भी गए तो दस रुपये आने के बाद कहीं बीस रुपये वापस ना चले जाए और मैं जो गैजेट नोटिफिकेशन ड्राफ्ट प्रपोज कर रहा हूँ ब्लैक मनी लाने के लिए वो है right to recall PM right to recall finance minister UN में प्रस्ताव रखना कि सारे देश अपने बैंकिंग रिलेटेड कानून बदले उसके बाद ज्यूरी ट्रायल और अंत में narco test in public for high criminals यानी कि जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी होने की संभावना हो उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट दिया जाए इन कानूनों के द्वारा ब्लैक मनी जो विदेशों में है वो वापस आ सकता है धन्यवाद